मैं अपनी निशानियों से उन लोगों को बरगश्ता रखूंगा जो ज़मीन में नाहक तकबर करते हैं और वो अगर हर तरह की निशानियां देख लें तो उन पर ईमान नहीं लाएंगे और अगर उन्हें हिदायत का सीधा रास्ता नजर आए तो उसको अपना तरीका नहीं बनाएंगे और अगर गुमराही का रास्ता नजर आ जाए तो उसको अपना तरीका बना लेंगे ये सब कुछ इसलिए है कि उन्होंने हमारी निशानियों को छुटलाया اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے